कोशिश कर रहे लेकिन होश में नहीं आते हैं उनको हृदय से लगा करके और होश में लाने के लिए सिर्फ हाथ हाथ शरीर हाथ हाथ से पार करके जैसे उनको जगाने की कोशिश किया पानी की छीटे के मारे मुड़ गए हैं उस प्रकार करके होश में लाए लेकिन होश में नहीं आए हनुमान तब भरत जी को बड़ा दुख हुआ मुख मलिन मन भय दुखारी तो भरत जी का मुख मलिन हो गया और बड़े दुख हो गए ये मुख की मलिनता दुख का सूचना है मुख्य स्वयं उदास हो गया भरत जी का और दुखी हो गए और कहा से बचने भरी लोचन बारी आंखों में आंसू भी आ गए और भरत जी इस प्रकार से कहने लगे उनको हनुमान जी को होश मिलाने के लिए कहने लगे जो विराम है विमुख मोही दीना सीना कई जिस विधाता ने हमको वैसे ही भगवान की विमुख कर दिया और को नहीं यह दारोण दुख दीना उसने एक दूसरा ये दुख दिया ये तो दारोण दुख हो गया पहले तो दुख था ही था ये तो और भी बड़ा दुख हो गया कि भगवान का इस प्रकार से सेवक भक्त भगवान का कार्य कर रहा है और उसको हमने इस प्रकार से गिरा दिया चोट पहुँचा दी या उससे गलती हो गई बहुत बड़ी तो जिन्होंने अपनी गलती हुई तो उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं और विधाता की तरह इस प्रकार के जिसके कारण ऐसा हुआ विधाता ने एक बात सुनी थी भगवान से विमुख किया प्रमुख करने के माने भगवान की सेवा में नहीं रह सके भगवान चले गए बन में और भरत भी रह गए अयोध्या में तो ये उनकी विमुखता है मैंने पन पैदा हो गया उनका विरोध और दूसरा ये कि अब उसके बाद भी भरत जी को चाहिए थे कि हनुमान जी भगवान राम की सहायता जरूरत पड़ती सेवा करते सहायता करते तो वो भी काम नहीं है तो कहते हैं जो मोरे मन बच्चे रुकाया तो प्रीति राम पद अमल हम तो फिर भरत जी इस प्रकार से शपथ लेने लगे करने लगे कि अगर हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम है और निर्मल प्रेम है निष्कपट प्रेम है वास्तविक प्रेम है तो सौ कपि हो विगत श्रम सूला तो भगवान की कृपा से तुम श्रम और सूल से रहित हो जाओ जो तुम्हारी थकान है वो मिट जाए तुम्हारी बेहोशी दूर हो जाए तुम्हारी जो पीड़ा है वो सब दूर हो जाए इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जो मोह रघुपति अनुकूला भरत जी कहते अगर भगवान हमारे ऊपर अनुकूल है अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है और भगवान हमारे अनुकूल है तो वो कृपा करेंगे और अगर कृपा करते हैं तो ये कृपा हमें देखने में आवे कि हनुमान जी जो है बेहोशी से कोष में आ जाए तो जब ऐसे जब भरत जी ने बोला भगवान का नाम भी लिया भगवान से प्रार्थना भी की तो समय तो बच्चा ने उठ बैठ का पीछा तो हनुमान जी उठ बैठ गए आ गया हो हमको समझिए अब एक प्रसंग आता है इस प्रकार के हनुमान जी तो बेहोश थे उन्होंने भरत जी की बातें कैसे सुन ली और कैसे उसमें आ गए इसमें दो बातें एक तो ये हो सकती है कि हनुमान जी ने कुछ सुना नहीं लेकिन भगवान तो सर्वत जाते हैं भरत जी की बात भगवान ने सुनी और उन्होंने सुन करके हनुमान जी के मन में शक्ति उत्पन्न कर दी और उनको जागृत कर दिया जाग गए तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा उनका हनुमान जी को होश में आ गया तो ये कहना चाहिए कि भगवान मतलब भरत जी के वचन सुन करके ही भरत जी जाग गए और होश आ गए दूसरे प्रकार से भी बात है कभी कभी बेहोशी आती है तो पूरी बेहोशी नहीं आती बेहोशी आती है तो उसको व्यक्ति को कुछ कुछ पता ही चलता रहता है मैं ऐसा भी हो सकता हनुमान जी के बाण लगने के कारण बेहोशी तो आ गई गिर भी पड़े लेकिन उठने की ताकत उनको नहीं रहेगी शक्ति नहीं रही कितनी बेहोशी बनी रही लेकिन कानों से सुनाई देता रहा कि कोई हमारे पास आया है और इसी प्रकार से बोल रहा है ये भी उन्होंने सुना लेकिन जब उन्होंने भगवान का नाम सुना भरत जी के मुख से और उनसे प्रार्थना करते हुए सुना और उनको हनुमान जी ने भी सुना की भरत जी इसमें बहुत दुखी हो रहे हैं इस प्रकार से हमारी बेहोशी के कारण से तो फिर उनको एकदम से उनके भीतर सुन करके वो बात को वो जो बेहोशी की अवस्था थी उससे भी हिम्मत बांध करके शक्ति लगाई और उठ करके बैठ गए तो बेहोशी उनकी चली दोनों बातें पता प्रकार होती कभी कभी लोग बात ये भी बताते हैं कि बेहोशी आ जाती है तो पता भी रहता है अभी एक व्यक्ति ने बताया कि हमें जो है वो हाथ की वजह से कभी कभी बेहोशी आ जाती है जब बेहोशी आने लगती है तो कुर्सी पे बैठे दम उठ करके बेहोशी आने लगती है तो पता लगता है तो हम जमीन के ऊपर लेट जाते हैं और फिर उठना चाहे तो उठ नहीं सकते दवा खाना चाहे तो दवा नहीं खा सकते लेकिन हमें पता रहता है कि हम पढ़े हुए अब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है ऐसा मालूम पड़ता है कि इसे तो कुछ चक्कर आ गया है इसको कुछ इसको जो है इसका दवा करनी चाहिए क्या हो गया इसे तो जब दूसरा आता है तो सुनाई भी पड़ता है उसने कहा जो सुनाई भी पड़ता है तो जेब से निकाल कर जेब की तरफ इशारा किया तो उसमें से निकालता है वो व्यक्ति दवा लेकर के हमारे मुंह में डाल भी देता है जब डाल देता है तो दो मिनट में तब धीरे दवा असर करती है तब फिर होश आने लगता है शक्ति आने लगती है उठने लगी जाता है तब देखो ये ये मूर्खा कहलाती है ये बेहोशी कैसी है बेहोशी भी है और उसके बीच बीच में थोड़ा इतना कर भी सकते हैं तो ऐसी कोई असंभव बात नहीं है कोई क्या हनुमान जी ने बेहोशी को सुन कैसे लिया ऐसे सुन लिया बेहोशी में कुछ अवस्था ऐसी भी होती है जो सुना भी जा सकता है और कई जय गए की कौशला का और हनुमान जी उठे भी तो भगवान का नाम ही देते भगवान का जय जयकार बोलते हुए कि भगवान श्री राम की जय हो जय हो कौशलपति भगवान राम की जय हो ऐसे कर बोलते हुए हनुमान जी उठ गए लीन कटे और लाए के तन लोचन सजल अब कहते हैं कि भरत जी ने फिर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और पुण्य में तन तन प्रसन्न हो गए हनुमान जी लेकिन प्रेम के असर तो भगवान ने देखो कृपा की तो हनुमान को होश आ गया ऐसे भगवान जी प्रसन्न हुए और प्रीत ने हृदय समाय सुमर राम रघुपुर तिलक है भगवान का बार बार स्मरण करते हैं कभी देखो भगवान की कृपा हुई हमारी बात उन्होंने सुन ली तो उनको हनुमान जी को होश आ गया तो भरत जी इस प्रकार बड़े प्रसन्न हुए और उनको अपने हृदय से लगा दिया के नाते से सात कुशल कौ सुख निधान की सहित अनुज मात जान के कपि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन मऊ पछताने महादैव मैं कत जग जाय प्रभु के एक काज नाय जान को अवसर मन धर धीरा कपि सन बोले बल धीरा सात गारू है तुम सजाता काज नसाइय होत प्रभाता कर्म मुसायत सहल समेता पटवो तो जा कृपा निकेता सुन कपि मन उपजाय विमाना मोरे भार कली किम बाना राम प्रभाव विचार सहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी तब प्रताप उर राखी प्रभु जयो नाथ तुरंत हसित आयुष पाय पद बंद चले हनुमंत भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय पाप कुशल सुख निधान की का भरत जी जब घोषणा आए तो उनसे पूछने लगे कि इसके माने ये भगवान श्री राम जी के पास ही आए हनुमान जी तो उनसे पूछते हैं कि भगवान राम किस प्रकार के हैं क्या है उनकी कुशल कहो कथा निधान के माने भगवान श्री राम जी की और सही से अनुज और मात्र जाने की और भाई लक्ष्मण जी की कुशल कहो माता जानकी की कुशल कहो उनकी सबकी तीनों की कुशल समाचार भरत जी ने जी को तो जल्दी से जाने के लिए तो उन्होंने बताया तो कभी कभी चरित्र समास रखाने हनुमान जी ने सारी बातें जो बताया चरित्र भगवान ने जो लीलाएं की थी उन सबको संक्षेप में बता दिया उन्होंने बता दिया कि भगवान श्री राम जी जब दंडकारण्य में थे तो रावण ने सीता जी का हरण कर लिया उसके बाद फिर वो हनुमान <coughs> भगवान को खोजते खोजते नाम आए <coughs> वहाँ सुग्री से मित्रता हुई बालू को मारा और फिर बालू की सास सुग्री की सहायता से हम सब सेना को लेकर के भगवान लंका पर उन्होंने आक्रमण किया है सीता जी को उनको जो है वो रावण से लेने के लिए युद्ध चल रहा है और उसमें एक दिन का युद्ध होकर दो दिन का युद्ध हो चुका है पहले युद्ध में इतने इतने लोग मारे गए दूसरा युद्ध में इस प्रकार से हो गया <clears throat> भगवान श्री राम जी सर्व समर्थ है फिर जो रावण का सबका वंश का विनाश होगा और भगवान सकुशल अयोध्या आवेंगे ये सबका सब हनुमान जी ने उनको भरत जी को संक्षेप में बताया देर नहीं लगा मैंने बहुत ऐसा नहीं बड़ी देर तक बताते सवेरा हो जाए बताते बताते नहीं ऐसे नहीं हुआ जब तक बताइए और आगे काम बढ़ा तो जहाँ संक्षेप की बात है वहाँ संक्षेप में बता देने की बात जहाँ विस्तार करने तो वहाँ विस्तार हो इसलिए समाज का माना संक्षेप है तो कभी सब सहित समाज बखाने और भय दुखी मन माहू पछताने भरतगिन जब सुना तो उनको बड़ा दुख लगा सीतारण का भी दुख लगा इस बात का भी लगा कि घोरा उसमें लक्ष्मण जी को सबसे लग गई तो वो भी दुख की बात भरत जी को दोनों बातों का बड़ा दुख हुआ और तीसरे दुख की बात ये हो गई कि हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जा रहे थे और वो भी हनुमान जी को गिरा दिया इस प्रकार रास्ते में तुमको कष्ट पहुंचा ये तीसरा इस प्रकार के अनेक दुख के कारण भरत जी के लिए हो गए आ गई मैं कट जग जाया हूँ तो ये था भरत जी का वो अपने कहने लगे देखो संसार में मेरे पैदा होने से क्या फायदा हुआ प्रभु के कब काज न आए भगवान का कोई काम नहीं कर पाए कोई सहायता नहीं लक्ष्मण जी के लिए तो धन्य कहते हैं भरत जी के देखो भगवान लक्ष्मण जी भगवान के साथ हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं तो उनको तो धन्य कहते हैं लेकिन अपने आप को कहते हैं भगवान के कोई काम नहीं आए तो जीवन व्यवस्था हुआ तो ये भी भरत जी के द्वारा अन्य लोगों के लिए सिद्धांत भी है कि अगर जीवन कोई मनुष्य जीवन जीता है लेकिन वो भगवान का कोई काम नहीं करता है मनुष्य का शरीर से भी प्राप्त हुआ कि भगवान का कुछ काम करे लेकिन भगवान का कुछ काम बेचारा नहीं कर पाता है तो उसके जीवन की क्या काम करता जैसे कहा दैयो मैं कभी जगह जायो प्रभु के एक काज न आयो भगवान के एक काम में नहीं आया <clears throat> तो जान को अवसर मन दर धीरा तो फिर ये देख करके भरत जी ने देखा कि अब इस समय पश्चाताप करते हुए हम भी समय व्यतीत करें नष्ट करें ये अच्छा नहीं है इसलिए उन्होंने अपने धैर्य धारण किया और पुण्य कपसन बोले बल धीरा तो भरत जी फिर हनुमान जी इस प्रकार से बोलने लगे अब यहाँ बलवीर भरत के लिए कहते हैं कि भरत में बल थोड़ा नहीं है भरत जी बड़े शक्तिशाली है तो उनकी शक्ति का परिचय देते हैं कितने शक्तिशाली भरत जी है कहते हैं सात जहर हुई है तो जाता भरत जी हनुमान जी से बोले की ये सात तुमको तो जाने में तो बड़ी भीड़ लगेगी अब तुम घायल भी हो गए शक्ति भी कम हो गई पर्वत इतना लेकर के जाना है पहुंचने में तुमको बहुत देर लगेगी तो हमें तुम जल्द हम तुमको तुम्हें जल्दी पहुंचाएंगे काज नताई होत प्रभाता और जाते जाते अगर सवेरा हो गया तो काज नताई मन काम बिगड़ जाएगा इसके माने फिर लक्ष्मण जी की शक्ति वो लगी तो लक्ष्मण जी का शरीरांत भी हो जाएगा और वो जीवित नहीं बचेंगे काम बिगड़ेगा इसलिए रात्र में तुम्हें जल्दी जल्दी पहुंचना है वहां पर तो अब ऐसे में क्या किया जाए तो भरत जी कहते हैं कि चरम मसायत शैल समेता पठव तो ही तो कहा ऐसा करते हैं कि तुम तो हमारे बाढ़ के ऊपर बैठ जाओ और पर्वत लेकर के बैठ जाओ और वो बाढ़ में छोड़ता हो तो बाढ़ तुम्हें चेक जाता है तो वो सतराता हुआ बाढ़ जाएगा तुम भी उसके ऊपर बैठे चले जाओ तुम्हें शक्ति भी लगानी नहीं पड़ेगी बस पर्वत को लिए भर तुम रहना और तुम्हें वो बाढ़ वहाँ पहुँचा देगा जहाँ कृपा निकेता जहाँ कृपा निधान भगवान राम है वहाँ पहुँच जाओ एक बात तो ये भी सोचा भरत जी ने कि चलो हमने इसका अपराध हो गया तो उसका प्रायश्चित इतना हो जाएगा कि हम इनको हनुमान जी को वहाँ तक पहुँचा देंगे इसमें सहायता भी हो जाएगी भगवान जी इनसे बैठे बैठे लेकिन हनुमान जी ने इसे स्वीकार नहीं किया सुन कभी मनोपजाय अभिमाना कहते देखो जहाँ भरत जी ने ऐसा कहा तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ क्या अभिमान आ गया कि मोरे भार चलही कि मैं बाना कहे कि हमारे वजन से ये बाण कैसे चलेगा हम इतने भारी हम स्वयं और इतना भारी पर्वत लिए हुए हैं और इनके बाढ़ के ऊपर बैठ करके हम जाएंगे और वो बाढ़ भी हमको यहाँ अयोध्या से लेकर के लंका तक पहुँचा देगा इतना तो बड़ा संभव है दिखाई देता इतनी सती बाढ़ उनके कहाँ से आ जाएगी तो ये अपने बल का अभिमान अपने भारीपन का अभिमान हनुमान जी को इस प्रकार से वैसे यहाँ पर अभिमान का आगे पीछे चल करके कहीं न कहीं इस अभिमान का जहाँ कहीं व्यक्ति को अभिमान होता है तो उसका जो दूषित परिणाम होता है वो भी कहीं देखने में आता है तो आता रहता है इस प्रकार से कथाएं चलते हैं तो मैं एक जगह अभिमान दिखा दिया तो दूसरी जगह उसका परिणाम दिखा दिया लेकिन यहाँ पर अभिमान का तात्पर्य कोई विशेष अभिमान की बात नहीं है हनुमान जी को एक प्रकार से यह आश्चर्य लगा हम तो इतने भारी है बाण को उनके कैसे जाएंगे तब यहाँ तो तुलसीदास जी ने विस्तार नहीं किया है लेकिन और कवियों ने दूसरे लोगों ने जो भगवान की कथा लिखी है उसमें हनुमान जी ने कहा कि अच्छा बाढ़ के ऊपर हम बैठ करके चले जाए और हमारे तो महाराज जी ने कहा बिल्कुल चले जाओ आगे बैठो तो पहले तो हनुमान जी बाढ़ के ऊपर बैठ भी गए और पर्वत लेकर के बाह पर बैठे भी और जब बैठे तो देखा हनुमान जी तो इनका बाढ़ तो हमको साधे हुए इसके माने अगर ये बाढ़ चलेगा तो हमको पहुंचा भी देगा ये भी तब फिर हनुमान जी फिर कथा में आता फिर हनुमान जी उस बाढ़ को उतर आए और ये मान लिया कि भरत जी के बाल में बड़ी ताकत है भरत जी बड़ी शक्तिशाली है उन्होंने स्वीकार कर लिया और स्वीकार करके परीक्षा करनी देख ली और उसके बाद फिर हनुमान जी वहाँ से स्वयं ही चले वहां से गए बांस नहीं गए अपने आप ही हनुमान जी जब वो असल भी उड़ते हुए अब अपने आप क्यों जाते हैं हनुमान जी अब उनको ये लगता है कि भगवान की सेवा में हम हैं जहाँ तक हमारी शक्ति है तहाँ तक हमें काम करना चाहिए और हमें लगता है कि हम अपनी शक्ति से वहाँ जा ही सकते हैं पर तो सहायता की लेने की आवश्यकता नहीं है व्यक्ति को सहायता तब लेनी चाहिए जब उसकी सामर्थ्य के बाहर की बात हो अगर सामर्थ्य उसमें है तो सहायता लेना आवश्यक नहीं है उचित नहीं है ये भी एक नियम है कुछ लोग जो है वो यद्यप सहायता की आवश्यकता नहीं तो भी सहायता मांगते हैं जैसे भिक्षा है यदि व्यक्ति को खाने के पास है तो वो तो सुरक्षित धरा हुआ है चलो और मांग लो तो ये भिक्षा मांगने वालों की मनाही है कि अगर खाने को रखा हुआ तो मत मांगो वो तो पाप हो जाएगा सभी मांगो जब न हो अपने पास खाने ऐसी सहायता भी मांगो सब मांगो जब अपने पास न हो तब मांगो इसलिए कहते कि हनुमान जी ने उनकी सहायता स्वीकार नहीं की और राम प्रभाव बहु विकारी बहुरी तो फिर भगवान राम प्रभाव मन में हनुमान जी कह भगवान का प्रभाव अब हनुमान जी कहते देखो भरत जी में इतनी शक्ति है उनके बाण में इतनी शक्ति है तो इसका भगवान राम की महिमा है उन्हीं के कारण इतनी शक्ति है तो राम प्रभाव विकार बहोरी उनका और ये भी हनुमान ने सोचा कि भगवान को जो अगर इनके बाण में शक्ति दे सकते हैं और हमको उसके द्वारा दे सकते हैं तो भगवान अगर चाहेंगे तो हमको ही शक्ति दे देंगे हम तो पर्वत को वहां तक पहुंचा देंगे ऐसे सोच करके तो जब यदि हम जो कुछ कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए और भगवान की कृपा मांगी और शक्ति हनुमान जी को प्राप्त हुई तो पन्न चरण चाहे कभी कर जोड़ी तो उसके बाद हनुमान जी चल दिए और हाथ जोड़ करके उनको वंदना करके भरत जी को <clears throat> उनके वंदना करके प्रणाम करते हुए वहां से चलते हैं और कहते सब प्रताप और रात प्रभु नाद तुरंत कहते आपकी प्रताप की आपकी महिमा को याद करते हुए हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँचे आप निश्चिंत रहो आपको बाढ़ के द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है आप इतना कस्टमर करो हम स्वयं ही बहुत जल्दी वहाँ पहुँचेंगे और प्रभाव नहीं होने देंगे अस कही आयुष पाई पद पद चले हनुमंत तो उन्होंने भरत जी ने कहा था अच्छा, जाओ जल्दी पर जाओ तब तो उनकी आज्ञा पा करके उनके चरणों में वंदना करके हनुमान जी फिर उठे और पर्वत उठाया दिया और फिर वहाँ से चल बंद चले हनुमान हनुमान जी फिर चल अब हनुमान जी रास्ते में चले जा रहे हैं पर्वत को लिए हुए मन में सोचते क्या है की भरत बाहुबल से देखते हैं देखो भरत के बाहुबल कितना है और कैसे शील निधान भरत है शील के माने अब उनको भगवान का के प्रति प्रेम भी कितना है उनके प्रति कैसा विनम्रता भाव भगवान के प्रति है और अपने प्रति भी उन्होंने जो हनुमान जी के प्रति भगवान भरत जी ने जो व्यवहार किया था उसको भी देख करके कैसे शील निधान भरत है उनका स्मरण कर करके चले जा रहे हैं और <clears throat> प्रभु पद प्रीति अपार और ये सोचते जाते देखो भरत जी के हृदय में भगवान के प्रति कैसी प्रीति है तभी तो भगवान को बोले कि अगर जो मोह पर रघुपति अनुकूल अगर भगवान हमारे अनुकूल है तो हनुमान जी जो है उसमें आ जाए इसके माने उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत प्रेम है उनके प्रति बड़ा <clears throat> स्नेह है उनके प्रति आकृत है भक्तिभाव है ये सोचते हुए विचारते हुए हनुमान चले जाते मनोमोह जात सराहत पुनः पुनः पवन कुमार हनुमान जी उनकी भरत जी की सराहना करते हुए चले जा रहे हैं पवन कुमार के बारे बहुत तेजी से चले जा रहे हैं हनुमान जी जो बड़े जल्दी बने विलम्ब न हो गए और लंका तक बहुत जल्दी पहुंच जाए ऐसे बस चलते जा रहे हैं रास्ते में भरत जी की महिमा के जैसे उन्होंने कहा था भरत जी से तब प्रताप और रात जइयो नाथ तुरंत आपके प्रताप को समझ करके मैं बहुत जल्दी जाऊंगा वैसे हनुमान जी इस समय भरत जी का स्मरण करते हुए रास्ते में चले जा रहे हैं भगवान का स्मरण तो करते ही है भगवान के भक्त भरत जी का उनका भी स्मरण करते जाते हैं हनुमान जी तो अब कोई विघ्न नहीं रास्ते में भी अब उधर से आने में विघ्न था इधर भी विघ्न हुआ भरत जी के कारण से इधर बीच में लेकिन आप भरत जी का स्मरण करते हुए हनुमान जा रहे हैं तो रास्ते में उनको किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं रात्र में इधर हनुमान जी वहां लंका में पहुंच जाते हैं अब ये तो कथा हो गई हनुमान जी की हनुमान जी किस प्रकार से लंका को चलते हैं कैसे पर्वत लेकर के लौट करके लंका में कैसे जाते हैं वो कथा हो गई अब इसके बीच की कथा रह गई कि वहाँ जब तक हनुमान वहाँ नहीं थे लंका में तब तक वहाँ क्या हुआ तो बीच की पहले कथा सुना करके तब तक हनुमान जी वहाँ पहुँचेंगे उनकी कथा होगी सबे सबे इसके आगे जो है भगवान श्री राम जी का विलास है लक्ष्मण जी के लिए हुए लक्ष्मण जी के बेहोशी को लेकर के जब तक हनुमान नहीं आते हैं तब तक भगवान राम दुखित होते रहते हैं शोक करते हैं विलाप करते हैं तो उसका वर्णन कराता है नान्याष्टिहारघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुं गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानुसञ्च श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम हे राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हे राम जय राम जय जय राम